हरी है सत्कर्षु को मेरे बंधु मैं ऐसा मुझको ऐसा अभी यहाँ प्रेरणा मिला है कि स्वतः स्वतंत्रता अधिकार और स्वराज के बारे में एक अच्छी ढंग से एक बात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छा समझने के लिए तैयारी में ही बैठे हैं ऐसा मेरा विश्वास जय हो मंगल हो कल्याण तो स्वप्न के बारे में अभी अभी तक तो आपने बहुत सुना है तो इस व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी मूल सूत्र ये जैसा मट्टी के मट्टी में मृदत्व रहता मृदत्व के साथ ही मट्टी व्यवस्था पाषाणत्व के साथ पाषाण मट्टी सारे पत्थर अपने व्यवस्था में है धातुत्व के साथ धातु व्यवस्था में और मणि मणित्व के साथ मणि अपने व्यवस्था में ऐसा है वही चीज चल करके जैसा अश्वत्थ वृक्ष है उसके त्वा होते हैं और धूप होता है धूपत्व होता है नीम होता है नीमत्व होता है निम्ब होता है निम्बत्व होता है इस, पर, इस प्रकार से सभी के साथ त्वा होता है उसके बाद जीवों में बाघ में में होता है में होता है गाय में गायत्व होता है इसी प्रकार से सभी में चीटी में पास होता है इस टाइम से सभी अपने साहित्य व्यवस्था में है इसको आप लोगों ने सुना मनुष्य मानव जो है ना मानवत्व के साथ जीना है वो अभी तक आया है मानव में क्या परेशानी होगी जीवन के सदृश जीने गया इसलिए नहीं हुआ इतना ही बात जीवों के संबंध जीवों से अच्छा नहीं के लिए नहीं सोचा कभी भी नहीं यहां तक तक तो पहुंचे जीवों से अच्छा जी नहीं तक तो पहुंचो जीवों के पास कोई कपड़ा नहीं जीवों के साथ कोई महल नहीं है जीवों के साथ कोई सड़क नहीं है सब तो सब सबका संबंध बना लिया यही जीवों से अच्छा होने का प्रमाण ठीक है चीटी भी जीता है हाथी भी जीता है ये तो आप देखते हैं तो मनुष्य है ना चीटी जैसा भी जीता है हाथी जैसा भी जीता है दोनों दोनों तरीके से जीता है चीटी सबसे ज्यादा संग्रह करता है हाथी कुछ भी संग्रह नहीं करता ज्यादा से ज्यादा खाता ये ये सब संसार में विशाल रखी है इस ढंग से सब कुल मिला करके एक सूत्र निकलता है हर वक्त वो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है भागीदारी क्या है तो उपयोगिता पूरकता दो सूत्र है उपयोगी होना किसके लिए पूरकता के लिए पूरकता में क्या है आगे व्यवस्था के लिए सहायक पीछे व्यवस्था के लिए उपयोगी होना ठीक है दोनों बात बनाना इसके इसमें से मनुष्य सर्वथा वंचित होते तो ना तो पीछे की व्यवस्था के लिए सहायक हुआ न आगे आगे की व्यवस्था के लिए कोई उपकार मिनट तो को तैयारी नहीं कर पाया ये क्यों हुआ इसके इसके उत्तर में यही हमको हमने पाया हूं मानव जात जीव जीव चेतना में जिया जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचा इसी में व्यक्तिवाद समुदायवाद पल पा और हर हर व्यक्ति के परस्परता में विवाद रही गया हर समुदाय के परस्परता में तो मन विरोध विरोध में उन्हें विद्रोह रह गया उसका प्रमाण जब बाल सुरक्षा सीमा सुरक्षा के रूप में आया हर समुदाय के परस्परता में विवाद रह गया विद्रोह रह गया विरोध रह गया उसका प्रमाण में सीमा सुरक्षाएं बनी हुई सारे सारे समुदाय के परस्परता में इसको आप देख नहीं सकते ये तो गवाही है गवाही तो इस तरह से मनुष्य है ना विवाद विरोध विद्रोह दमन इतने में बढ़ गया परस्परता में समुदाय के परस्परता में तो इससे कोई लाभ नहीं मिला इससे कोई सुधार नहीं हुआ इससे कोई समाधान नहीं मिला उस स्थिति में क्या किया जाए ऐसा अपन सोच सकते हैं सोचने की सोचने पर पता लगता है मानव जो है ना अपने स्वास्थ्य व्यवस्था में जीना होगा तभी इसका समाधान बनेगा मानव मानवत्व के साथ जीने के लिए क्या होना चाहिए मानव चेतना में ही जीना होगा मानव चेतना भी शिक्षा में प्रयोजित नहीं है वह आचरण में किसी का मिलता नहीं व्यवस्था में कहीं देखने को मिलता नहीं है और इसमें से मनुष्य है ना तो स्रोत से मुक्त हो गया स्रोत प्रेरित हो गया मानव का स्रोत ये तीन तीन है शिक्षा है व्यवस्था है संविधान इन तीनों में मानव चेतना का कहीं भी जिक्र नहीं संसार में जितने भी संविधान है जितने भी शिक्षा का प्रयोग हुआ है उसमें मानव चेतना का जिक्र नहीं ये यही यही मानव का स्रोत है इस बात की प्रेरणा पाने की स्रोत उसके बाद यदि स्रोत है धर्म का धीर है राज का है राजगति धर्म से कोई प्रेरणा ऐसा ऐसा ऐसे बात के लिए कुछ भी कोई धर्म गति नहीं है जो मानव चेतना को लोक संसार में इंट्रोड्यूस करें और कोई ऐसा राजगति नहीं जो मानव चेतना को हम संरक्षित करें उसका प्रमाण बताया ये व्यक्ति वहां समुदायवाद होने के आधार इसको अपन प्रशीलन करते हैं शोध कर सकते हैं तय कर सकते हैं कोई तकलीफ नहीं इसके लिए काफी विशाल बने संभावना है अध्ययन के इससे इस आधार पर हमने ये पता लगाया इस आधार पर एक विकल्पात्मक प्रयोग के आधार पर विकल्प विकल्प कैसे आ गया हम जो हमने पशु के दिन निवेदन किया था कि वे मैं स्वयं संकट में इस विधि से पसा तो वेदांत को पढ़ा वेद का सार है उपनिषद उपनिषद का सार है वेदांत वेदांत को पढ़ने पर यह पता चला हमको कि भाई जब पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एक लाइन लिखा है उसके नीचे जो है ना जब ब्रह्म से ही सारा जीव जगत पैदा हुआ यह लिखा है उसके तीसरे लाइन में लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य ब्रह्म से कैसा कौन सा ब्रह्म सत्य हो करके मिथ्य कैसा पैदा हो गया इसमें उस समय में दक्षिण देश में एक रमण महर्षि जी नाम के व्यक्ति थे प्रख्यात व्यक्ति तो उनके पास जाकर के पूछा गया उन्होंने यही बताया कि समाधि में ही अज्ञात अज्ञात होता वो शास्त्रों में भी लिखा था उसके आधार पर हम आमंत्रण कंटक करके समाधि के लिए प्रयत्न किया वो हमारा प्रयत्न से कैसे भी हो मानव का पुण्य हो हमारा प्रयास हो दोनों का योग ही क्यों ना हो तो हम सफल हो गए हमको समाधान ये मिला कोई चीज पैदा हुआ नहीं है ये झूठ हो गया क्या है सहस्तित्व नाम की चीज है जीवन नाम की चीज जीवन ज्ञाता पर में है कर्तापन में है दर्शापन में इसको संख्या सहस्तित्व जो है ना कुल मिला करके पूरा अस्तित्व है इसको संख्या ये रहता ही है यही प्रकट होता है यही संकोचन भी होता है संकोचन प्रकटन क्या होता है विस्तार क्या होता है पूछा रासायनिक संसार विस्तार होता है रासायनिक संसार संकोचित होता है जब कब ये होता यही हो जीवन रहता ही है और मैंने सर रहता ही साहस तत्व रहता है साहस तत्व का मतलब मैं ये बताया था व्यापक वस्तु एक एक वस्तु का नित्य वर्तमान अविभाज्य वर्तमान वो हम सहज तत्व नाम दिया तो व्यापक वस्तु ही ऊर्जा रूप में रासायनिक के अनुसार भौतिक के अनुसार को प्राप्त है मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त मानव में जो है ना कल्पनाशीलता का अनुसार होता है हर हर मानव संतान में देखने को मिलता है जिसमें कल्पनाशीलता का कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती ये ज्ञान ज्ञान का शुरुआत बीज रूप ये कल्पनाशीलता हर मानव इसको अपन अच्छी तरह से हर व्यक्ति में परिशीलन कर सकते हैं ये वही कल्पनाशीलता अपने संतुष्टि के लिए खोज करता है कुछ करता है तो मानव चेतना आता है देव चेतना आता है देवी चेतना आता है मानव चेतना आते हैं मानवत्व सहित जीना बन जाता है व्यवस्था में जीना बन जाता है हम पीछे के लिए इतना उपयोगी होते हैं और आगे के लिए माने देव चेतना देवी चेतना के लिए पूरक हो जाता है ऐसा बता इसको अच्छे तरह से अपन समझ सकते हैं इसका अध्ययन कराने के लिए व्यवस्था भी है सूचना देने के लिए ये ये सब बातें रखा हुआ है अभी ऐसा सम्मेलन है इसमें कुछ सूचनाएं मिलते हैं जीवन विद्या में कुछ और सूचनाएं मिलते हैं अध्ययन के लिए व्यवस्था रखा अध्ययन पूर्व की पूरे बात समय में ये कल के हमारा वक्तव्य में प्रस्तुत किए आज के वक्तव्य में ये है तो पूरा का पूरा स्वत्व स्वत्व के बारे में क्या बताया मानव का स्वत्व मानव चेतना मानव का स्वत्व देव चेतना है मानव का स्वत्व दिव्य चेतना कम से कम वाला मानव चेतना परमावधि वाला चेतना है दिव्य चेतना जो जो आपको इच्छा होगा उसको आप हम वापस तो सकते हैं व्यवहार में ला सकते हैं प्रमाणित कर सकते हैं अपने में वैभव को प्रतिष्ठित कर सकते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं ये हमने देखा है मैं स्वयं तीनों चेतना से संपन्न परंगत व्यक्ति में से मई हूं तो उसमें से केवल अभी प्रमाणित कर रहे हैं केवल मानव चेतना तो अभी दिव्य चेतना को प्रमाणित करना चाहते हैं क्षेत्र मानव को स्वागत होता है कि नहीं होता है पता नहीं है इसीलिए हम अभी केवल मानव चेतना को प्रमाणित करने के पक्ष में काम कर रहे हैं अब ऐसे मैं पारंगत हूं तीनों चेतना के संबंध ये बात आपको सूचना के रूप में कह रहे हैं और फिर में इसको आपको अध्ययन करा हूँ कराने की व्यवस्था दे दी है उसको उसको एक दक्षिण विचार शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है उसको अध्ययन कर सकते हैं हर व्यक्ति आजकल पठन तो सबसे बंद है सर्वाधिक लोगों में और उसके बाद समझने की बात दूसरा तो का अध्ययन में केवल पठन नहीं है समझना भी समझने के पक्ष में कहा है कि हर शब्द का एक अर्थ होता है वो उस केवल उस स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है अस्तित्व स्वयं स्वयं में सहस्तित्व है इस ढंग से शुरुआत इसके आधार पर मानव सहस्तित्व में अविभाग्य वर्तमान है सहस्तित्व को समझना बहुत आवश्यक है उसके पहले कोई चीज सही नहीं होती ठीक है तो स्वप्न के मूल में सहस्त्र को समझना सहस्त्र रूपी दर्शन ज्ञान सहस्त्र सहस्त्र रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान ये तीनों चीज यदि हमको समझ में आता है हम समझदार उसके पहले हम किसी न किसी व्यक्तिवाद संप्रदायवाद के हम परंपरा में रह के मान्यता के रूप में रहते हैं मान्यताएं अच्छा करने के पक्ष में भी है बुरा करने की पक्ष में दोनों का हर व्यक्ति में वही चीज अच्छा भी चल सकता है बुरा भी चल सकता है वो रखा हुआ कल्पना में मानव का कल्पना में अच्छा भी आ सकता है बुरा भी आ सकता है इसीलिए इसीलिए बुराई कुछ दूर तक जो हर समुदाय बचाए कुछ दूर तक नहीं बचा पाया तो इसी प्रकार से कुछ कुछ सभी समुदाय को देखें सभी बुराइयां पट सकती सभी संसार कुएं नहीं देखते हैं तो सभी बुराइयां पट चुकी तो कि, किसी समुदाय में कुछ प्रकार की बुराइयां पटा है दूसरे समुदाय में दूसरे प्रकार की बुराइयां पटा है ऐसा होकर के सभी बुराइयां सभी परंपरा में मिलकर के पट चुके तो सभी अवैधवाद मानव परंपरा में अर्थात सभी मानव परंपरा में मिलकर के वो वैध मान चुके हैं अभी हम कहीं भी उसको खोज नहीं सकते वेट क्या वैध कहाँ है वेट प्रमाण कहाँ है उसको खोज नहीं पाते बोलने में हम बहुत सभी पंडित हैं सभी समुदाय में पंडित कोई समुदाय में पंडितों की कमी नहीं वो इस बात के पंडित बस बोल पढ़ना पढ़ करके सुनाना पंडित हम स्वयं वेद मूर्तियों के परिवार के हों उसको श्रुति नाम दिया है वेद श्रुति का मतलब भोजन होता है सुनना सुन करके सुना देना ये पंडित पंडिताई का मतलब प्रमाण पक्ष में प्रमाण के रूप में हमने कुछ भी नहीं प्रस्तुत किया अभी हम हमारे वंश परंपरा हजारों वर्षों से वेद मूर्ति के रूप में दी है हजारों वर्षों से इससे ज्यादा क्या उदाहरण बताऊं क्या सकता ये कर्म कथा इतनी पर्याप्त है उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं वो हम कृषि दिक्कत में पड़े सत्य से मिथ्या कैसा पैदा होता है ये तो अपन हो गए क्या हो गए मानव से बदतर हो गए बात ब्रह्म ऐसा कैसा तो मनुष्य सभी प्रकार के खराबी सोच सकता है तो ब्रह्म सत्य हो करके मिथ्या कैसा हो आम का झाड़ से आम ही पैदा होता है नीम का झाड़ से नीम ही पैदा होता है और गाय का पेट से गाय आता है बाघ का पेट से बाघे आता है चीटी का बच्चा चीटी चीटी ही होता है इसको तो सब हम देखते हैं मानव का बच्चा मानव ही होता है फिर मिथ्या कैसा होता मिथ्या कहां से इस पर सोचने पर पता चला हम कुछ बातों में भ्रमित हो गए हैं मूल पर जाना कोई पैदा करने वाला है सोच सोच करके सब सोचा वो गलत होता है पैदा कोई चीज नहीं होता कहीं रहता ही है विकसित रूप में रहता है या मूल रूप में रहता है मूल रूप में पदार्थावस्था है और कभी भी समाप्त नहीं होता पदार्थावस्था समाप्त नहीं होता तो ऊर्जा सतत रहता है व्यापक वस्तु सदा रहता है यथावत रहता है उसमें कोई घटता नहीं है बढ़ता नहीं यही बात तो उस, उसके उसके उसमें जो बिगा हुआ डुबा हुआ घिरा हुआ सभी इकाइयां में से पदार्थावस्था ह्रास होकर के किसी न किसी अवस्था में रहता है जैसा भी सूरज हल्के परमाणु के रूप में परिवर्तित होकर के पूरे वस्तु वही का वहीं इसको भगवान है समझ चुके हैं तो इसी प्रकार से यदि धरती भी यदि चूरण हो जाता है इसके सभी पदार्थ पुनः किसी हल्के परमाणु के रूप में रह हुए समय पा करके पुनः विकसित होता है इस प्रकार से हम देखा इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हम हम सहस्तित्व में जीवन वस्तु सदा सहस्तित्व में रहता है जीवन मात्रा नहीं जीवन का परिणति होता है जीवन गठन पूर्ण परमाणु है उसका उसका मात्रात्मक परिवर्तन होता जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ही होना है न कि मात्रात्मक परिवर्तन जीवन में गठन पूर्ण होने के बाद मात्रात्मक परिवर्तन होने से मुक्त हो परिणाम से मुक्त होता है उसके बाद केवल बच्चा बचाता है तो श्रम गति परिणाम श्रम गति परिणाम परिणाम से मुक्त होता है श्रम और गति ही दोहरा श्रम का श्रम का जो स्थली है विश्रम उसको पहचाना है मैंने सर्वतोमुखी समाधान रूप में वो जीवन पहचान सकता सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो सकता जिसको हमारे महा बुजुर्गों ने अभ्युदय नाम दे के रखे ठीक है अभ्युदय का परिभाषा में हम लिखा सर्वतोमुखी समाधान हमारे बुजुर्गों ने उसका परिभाषा में लिखा है तो जो मनोधर्म शास्त्र में चार वर्ण चार वर्ष आश्रम के लिए जो कुछ भी आचरण लिखा है आचरण लिखा है उसको करने से ऐसा अच्छा, उन लोगों ने लिखा मैंने लिखा सर्वतोमुखी समर्थन अभी इसमें एवरेज या सूचना आपको देना चाहते हैं हमने उन सब शब्दों को प्रयोग किया हूं जो बुजुर्गों ने दिया है उसका परिभाष प्रमाण मैंने स्वयं देखा यह भी आपको सोचना કે મેં બતાના ચાહતા છું તો અસ પરિભાષા કે સંદર્ભ મેં મેં સ્વયં એક વ્યક્તિ જે મેં છું મેં સ્વયં પે મેં છું યે આપકો બતાના ચાહતા હૈ ઉસકે બાદ જો માનશીક સ્વરૂપ મેં જે વાત કરા સદ્ગુણ કે હોતા હૈ માનવ સ્વહી સ્વ मानवत्व के अलावा कोई चीज स्वस्थ नहीं होता है पुनर्विचार करने के लिए वस्तु पुनर्विचार करने पर अंतर्गत मानवत्व के पास ही जाते यही गुणात्मक विकास का आधार बने हुए गुणात्मक विकास पूर्वक इसको पाया जा सकता है उसको अध्ययन विधि से संपन्न किया जा सकता है उसको हम स्वयं अनुभव किए हैं और उसको संसार को अर्पित करने के लिए कोशिश करें मानवत्व के पशु का स्वरूप होता है मानव चेतना पूर्वक देने पर हम व्यवस्था में जी पाते हैं मानव चेतना पूर्वक देने पर हम अखंड समाज में जी पाते हैं अखंड समाज चेतना सर्व मानव को मानव के रूप में हम पहचान पाते हैं मानवत्व के रूप में विश्वास कर पाते हैं हर मानव को मानव जात के रूप में पहचान पाते हैं और मानव चेतना पूर्वक विश्वास करते हैं मानवत्व के साथ विश्वास करते ये दोनों चीज अध्ययन से आता है उस पर आने से अखंड समाज के एक सूत्र निकलते है अखंड समाज में क्या क्या होता है मानव संस्कृति मानव सभ्यता का आचरण मानव सभ्यता मानव संस्कृति क्या होता है पूछा मानव संस्कृति वो हो चीजें वो चीजें निरंतर उत्सव पूर्व में जीना उत्सवता के लिए मानवत्व पर यह आधार है मानव मानव चेतनाएं पहले आधार है मानव चेतना विधि से नित्य उत्सव की व्यवस्था बनी है उसको अध्ययन कराते हैं उसमें पारंगत होना पड़ता है और उसको आचरण में लाना पड़ता है प्रमाणित करना पड़ता है जीना पड़ता है जीने के लिए मानवत्व है जीने के लिए मानवत्व आता है तो मानव के मानव संस्कृति आता है जीने के रूप में मानव संस्कृति आता है ठीक है और दूसरा भाग मानव सभ्यता मानव सभ्यता अखंड समाज सूत्र व्याख्या करता है अखंड सूत्र को वहन करता है जीते के रूप में व्याख्या करता है उसी प्रकार जब मानवत्व ही है तो सर्वभम व्यवस्था को सर्वभम व्यवस्था को समझता है जीने के रूप में प्रमाणित करता है इसमें से मानवत्व के साथ जीने से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या धारक वाहक मानव होता है मानव ही एकमात्र इकाई है समझदारी पूर्वक जीने वाला किंतु इसी आधार पर मानव को ज्ञानावस्था की इकाई के नाम दिया तो जीवों को जीवों को जीने की आशा के रूप में पहचाना है मानव को समझ के जीने वाले के रूप में पहचाना है इसकी आवश्यकता है कि नहीं हर व्यक्ति से सकता है आवश्यकता हो तो स्वाभाविक है मानव प्रयत्न करेगा ऐसा मेरा विश्वास ठीक है ये बात हुई स्वतंत्रता मतलब ये हुआ मानवत्व अपने में स्वतंत्र स्वतंत्रता क्या चीज है व्यवस्था में इसीलिए व्यवस्था में जिन्हें में स्वतंत्रता कहा है तो जैसा कम से कम एक परिवार में दस व्यक्ति होते दस व्यक्ति में एक व्यक्ति व्यवस्था में व्यवस्था का को हाथ में होना पड़े आगे व्यवस्था के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं परसों के कल के दिन आपको बताए थे कि भाई परिवार में दस समझदार व्यक्ति होते हैं उसमें एक व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं परिवार समूह का समूह का गठन होता है परिवार दस परिवार समूह एक एक व्यक्ति को पुनः निर्वाचन करता है तो ग्राम व्यवस्था हो जाता है ग्राम व्यवस्था में दस ग्राम मिलकर के निर्वाचन करता है ग्राम समूह हो जाता है उसी प्रकार से विश्व राज्य विश्व परिवार राज्य सभा बन जाती इसमें से अभी व्यवस्था के परिवर्तन की एक स्वतंत्रता रखा हो व्यवस्था में परिवर्तन की और भागीदारी की स्वतंत्रता रखा अपने सामने रखा ये स्वतंत्रता है व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन उसमें भागीदारी हमारा स्वतंत्रता क्योंकि दस दस परिवार से दस दस व्यक्ति का परिवार उसमें एक व्यक्ति को निर्वाचित कर भागीदारी ठीक है इसमें से इसमें स्वतंत्रता का स्वरूप मत इसमें स्वतंत्रता में जीने में स्वतंत्रता किसमें जिएंगे स्वराज्य में जिएंगे स्वराज्य क्या हुआ मानवत्व को वैभव वैभव रूप में बनाए रखना वो स्वतंत्रता है ठीक है मानवत्व को वैभव रूप में निरंतर पुष्प से पुष्प तक पहुंचाने के रूप में बनाए रखना ये वैभव पुष्प से पुष्प मैंने संतान से संतान को और उनके संतान को बनाए रखना ये वैभव ऐसा वैभव को चाहते हैं तब हम स्वतंत्र होते हैं बाकी जगह में हम स्वतंत्र हैं ब्रह्मवश जितने भी करते हैं कर्म करते समय में हम स्वतंत्र रहते हैं और भोग के समय स्वतंत्र हो जाते हैं अभी समझदारी पूर्वक कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका फल भोगने में भी हम स्वतंत्र हैं और कर्म करते समय में भी स्वतंत्र सारे जीव संसार जो पर्वों के समय में भी स्वतंत्र है और कर्म करते समय में भी स्वतंत्र वो अपने जीवत्व के साथ ही जी रहा उससे ज्यादा जी नहीं पाएगा ठीक है अभी मानव उस जगह में आ गए उस जगह में आकर के कुछ दिन बाद तो चाहे उससे अच्छा होना अच्छा हो गया तो कपड़ा पहन लिया घर बना लिया माल बना लिया लड़का सड़क बना लिया और सारा सारा सुविधाएं को उत्पन्न कर लिया कल्पनाशीलता के सहारे से कर्म स्वतंत्रता किया फलस्वरूप मिल गए है ना एक एक घर का डिजाइन किया दूसरे बार उससे अच्छा उससे उससे अच्छा नक्शा अच्छा बना दिया तीसरे बार तीसरे उससे अच्छा बना दिया एक बार कपड़ा बनाया उससे अच्छा दूसरा बार बना दिया एक बार सड़क बनाया दूसरा बार उससे अच्छा बना दिया हम हाँ, उसी प्रकार पहले में भी एक बार बनाए पहले अरे उससे अच्छा के लिए सोचे उससे अच्छा पहन दिए ये सब बात तो किए ये सब हो गए ये सब मानव को अधिकार में गए कल्पना कर्म स्वतंत्रता का अधिकार आ गया कर्म स्वतंत्रता से जो जो मिलना था वो सभी मिल गया क्या मिलना था सभी तो आहार आवास अलंकार दूर श्रवण दूर गमन दूर दूरदर्शन छह बात मिलना था वो सभी मानव को मिला वो बाजार में आया ठीक ये बात तो अपन देख चुके हैं और आगे की बात बात है तो मनुष्य का कल्पनाशीलता का कर्तव्य था इसमें स्वतंत्रता के से जो होना था होने के बाद भी कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु मिला था कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना ही पड़ेगा सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान पाए बिना आदमी समाधानित होने वाला नहीं है समाधानित नहीं होगा तो क्या होगा व्यक्तिवाद समुदायवाद होगा व्यक्तिवाद समुदायवाद होगा तो क्या होगा दंडे से तलवार तलवार से तो तक तो पहुंच ही चुके ये रहेगा ये जब तक रहेगा कुकृत्य धन बैठेगा अपराध बैठेगा सारा कुकृत्य को सारा वैधवाद को कारण इसमें सीमा सुरक्षा रेखा में वैध मान चुके हैं इसको सभी लोगों ने अध्ययन किया होगा अध्ययन कर ही सकते ठीक है इस तरह से हम जो है ना स्वतों को सदुपयोग करने की स्थिति में हम स्वतंत्र स्वतः क्या हुए मानव कि अपना स्वस्थ हो गई उसका सदुपयोग करने में स्वतंत्र और स्वतंत्र होने का क्या प्रमाण व्यवस्था में अखंड समाज में जीना और सार्वभौम व्यवस्था में जीना यही स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता का क्या मतलब है अभी अभी की स्थिति में सकल अपराध करने में आधुनिक प्रवर्तन होना स्वतंत्र हो गया सकल अपराध को वैध मानने में स्वतंत्र प्रकार ठीक है ना उसके बदले में हमने देखा है मानव का यदि उद्धार होना है अपराध मुक्ति होना है तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना ही स्वतंत्रता इतनी बात अखंड समाज में भागीदारी करना है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना है या नहीं करना उसको सोचते सोचना है तो समझदार होना पड़ेगा समझदार होने से समाधानिक होंगे समाधानिक होने पर सर्वतोमुखी समाधान होगा पर सर्वोत्तम हम जी सकते उसके लिए समझदार होने का पक्ष को हम अध्ययन करने कराने की व्यवस्था दे रखा इसको इसके बारे में प्रयोग चालना इसमें जो भागीदारी करना है वो सब कर सकते इन सबको बात को आपको एक सूचना के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक जरूरत है ऐसा और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं रण सिंह आर्य बागड़ी आर्य ऐसे लोग मिलकर के सोचे हैं उसके आधार पर आपके समूह हम प्रस्तुत तो ऐसे इसके इस पूरे बात की जो प्रयोजन है मानव का उद्धार कर मानव सर्वशुभ की बात सर्वशुभ ही व्यवस्था का मतलब व्यवस्था में देने का मतलब है सर्वशुभ की में भागीदारी करना भागीदारी के सर्वोच्च सूत्र व्याख्या में भागीदारी करना ही व्यवस्था में जीने का मतलब है प्रोत्साहित व्यवस्था का मतलब है सर्वशुभ का मतलब सर्वशुभ क्या हुई समाधान होना हर परिस्थिति में समाधान पैदा करना न्याय न्यायपूर्वक जीना परस्परता में न्यायपूर्वक जीना समाधान सहित जीना समाधान सहित हर व्यक्ति को जीने देना और स्वयं यही बनता है सत्य सहायक रूप में सत्य को समझने से ये दोनों सहज है क्या सत्य है सहज के रूप में परम सत्य को समझने से ये दोनों विधि से जीना हमसे बनता है और हमसे बनता है आवश्यकता के रूप में बनता है और और अति आवश्यकता के रूप में बनता है अति आवश्यकता क्या है तो हमारा जैसा सब खूब होने के लिए प्रयत्न अति आवश्यकता तो अभी जो है ना हम हमारे स्वरूप को भी हम पूरा समझना समझ नहीं पाने से विभिन्न समुदाय में हम बट गए विभिन्न समुदाय में बटने से परस्पर करने वाला घट रही गई ये इसमें पर लट के मानव जाति एक होते हुए अनेक समुदाय में बटा हुआ है तो बटने के लिए ही संविधान बनाया जाता है इसमें से क्या कहां पहुंचेंगे कोई संविधान ऐसा बचा नहीं है जो सीमा सुरक्षा से बचा हो बचना चाहता हो ऐसा कोई संविधान धरती पर नहीं ऐसा कोई समुदाय भी नहीं ऐसा कोई व्यक्तिवादी से वाले विचार भी नहीं समुदायवादी विचार भी नहीं दोनों नहीं यदि कोई समुदाय के विचार यदि सीमा सुरक्षा से बचने के लिए यदि सोचता है उसको क्रियान्वयन कर सकता है वो शिक्षा में आ सकता है वाचरण में आ सकता है और व्यवस्था में समर्थ प्रमाणित होता है वह सत्व गति है ही वो सत्व गति है यदि इससे यदि हम जो एक प्रस्ताव रखना यदि खूबसूरत से और कोई प्रस्ताव आता है वो तो मानव को स्वागत होगा है क्या करने चाहिए इसमें हमको कोई तकलीफ हम जो कम से कम खूबसूरत से प्रस्ताव को रखा कम से कम खूबसूरत ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत से प्रस्ताव रखने के अवसर है ही उसके बारे में हर व्यक्ति सोच भी सकते हैं समझ भी सकते हैं प्रस्ताव रख भी सकते हैं शोध कर भी सकते हैं ये होना चाहिए चारों भाग चारों गड्ढा भरना चाहिए आचरण गड्ढे में हो गए हैं और संविधान गड्ढे में हो गए अपराध में फंस गए अपराध संहिता में फंस गए हैं के बस गया उसको बताया था तो सहरसा विधान इन तीन प्रकार की बात कहता तो है गलती को गलती से रोकना है अपराध को अपराध से रोकना है और युद्ध को युद्ध से हर संविधान नहीं करता इसको अपराध संहिता कहा जाए न्याय संहिता कहा जाए हम उसके लिए कठनी है आत्मरक्षा न्याय आत्मरक्षा खेलेगा आत्मरक्षा के लिए तो सही गलती ये बात ऐसा ऐसा संविधान से करती ऐसा पात्र ये सब तो दय सुन चुके हैं हम कुल मिलाकर के युद्ध से युद्ध को रोकना युद्ध का प्रसारण हुए माने विकुलता हुई गलती को गलती से रोकने की स्थिति में गलती करने की प्रवृत्ति बढ़ गई अपराध को अपराध को रोकने से के कार्यक्रम से अपराध प्रवृत्तियां मानव में उजागर होगी ज्यादा होगा इसी आधार पर हम कहते हैं तो विरोध विरोध का विरोध विरोध का दमन दो काम हम कर चुके हैं विरोध का विजय करने पर अपन खुल जाए वो कब खुलेंगे हम समझदार होने के बाद ही चलेगा समझदार होने के बाद समाधान पूर्वक हम हर हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं फलस्वरूप ये ये युद्धों को दूसरे लोग को समस्या भी दूर हो गए गलती से गलती को दूर करने की बात भी दूर होगी सभी बात दूर होगी हम समस्या समस्या को समाधान में परिवर्तित करना शुरू कर रहे उसके लिए लिखा है क्लाइन हर समस्या का गर्भ में समाधान छुपा है समाधान ही वैभव मानव परंपरा का वैभव समाधान इतने कह करके स्वतः स्वतंत्रता व्यवस्था के स्वरूप में हम इतना कह करके यहाँ पर रोकता हूँ इसके संदर्भ में और कुछ ज्यादा सुनना चाहते हैं ज्यादा समझना चाहते हैं यदि कोई शंका होती है कुछ भी विधि से यदि पूछना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी पूछ सकते दो मिनट बात को आगे बढ़ाएंगे और <coughs> सरल